बस तुम रात के किसी हिस्से में अपने घर वालों को ले चलो और तुम उनके पीछे पीछे चलो और तुम में से कोई पलट कर न देखे और वहाँ चले जाओ जहाँ जाने का तुम्हें हुक्म दिया जाता है